अल्लाह ताला का पाक होना बयान किया हर चीज़ ने जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है